कोप भवन सुनि चेऊराऊ भयबसय युण पर न पाऊ सुरपति बस बाह बल जाके नरपति सकल रह रुखता के सो तो सुनितियरि सगयउ सुखाई देखु काम प्रताप बड़ाई कुल से अगवन हारे तेरथ नाथ सुमन सर मारे कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं वे रतिनाथ कामदेव के बाण से मारे गए सभय नरे सुप्रिया पह गय वो देख दशा दुख दारुण भय भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारितन भूषण नाना कुमति कसी कुबेशता पावे अन अहिवातु सूच जनु भावी जाय निकट निपुक मृदु बानी प्राण प्रिया के ही हे तुरी सानी राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ कैकई जमीन पर पड़ी है पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले हे प्राण प्रिय किस लिए रिसाई रूठी हो कही हे तुरानी तो रिसानी पर सत पानी पति निवार मानहु सरो सबुअंग भामिनी विषम भाति निहार दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहुर देख तुलसी निपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेख हे रानी किस लिए रुठी हो यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि देख रही हो दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन के दो जीभे हैं और दोनों वरदान दांत है वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर उसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं बार बार कहराओ सुमुख सुलोचन पिक बचने कारण सुना सुनाओ गामिनी निज को पकड़ राजा बार बार कह रहे हैं हे सुमुखी हे सुलोचनी हे कोकिल बैनी हे गजगामनी मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना अनहित तोर प्रिया कही की नाम कही दुई सिर कही जम चहली नाम कहू कही रंग कही करऊ सू कहु कहिनी बहिनी का सो देचो सकौ तोर कीट बपुरे नर नारी दानसि मोर मनु तव आनन्द चन्द चकोरु हे प्रिये किसने तेरा अनिष्ट किया किसके दो सिर हैं यमराज किसको लेना अपने लोग को ले जाना चाहते हैं कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ बेचारे कीड़े मकोड़े सरेखे नर नारी तो चीज ही क्या है हे सुंदरी तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहूँ कपटु कर तो ही भामिनी राम सपत सत मोही बिहसी मांगु मन भावती बाता भूषण सजहि मनोहर गाता घर कुचरे घर घरे समझे जिय देखो बेग प्रिया परिहर ही कुबेचो हे प्रिय मेरा प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में अधीन है यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी मुझे सौ बार राम की सौगंध है तो हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख हे प्रिय जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे यह सुनि मन गुण सपथ बड़ी बिहस उठे मति मंद भूषण सजत बिलो कि मृगो मनहु किराति निफंद यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मन बुद्धि कई कई मंदबुद्धि कई कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो